आप फरमा दीजिए कि तुम अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो जिस नाम से भी पुकारो तो उसके सब नाम अच्छे हैं और आप अपनी नमाज में आवाज बहुत बुलंद ना करें और न बिल्कुल आहिस्ता करें और दोनों के दरमियान मतदिल रास्ता इख्तियार फरमाएं